में सब में मिलेगा किसी में अधिक किसी में कम जब कभी आप विचार करें कि क्या सभी स्थलों पर सभी प्रकार से सभी अवस्थाओं में हम सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में उद्यत रहते हैं या नहीं तो पता चलेगा कि सब जगह सभी स्थितियों में सब प्रकार से व्यक्ति सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने मुद्दे तो नहीं रहता आप अपना अनुभव बताओ क्या है हाँ जी बोलो रहते हो या नहीं रहते है हाँ जी हाँ जी बोलो आप बोलो सब जगह रहते हो या नहीं रहते है हाँ जी सब जगह नहीं रहते तो इसका अर्थ यह है कि आप उस स्थिति को ऊंची स्थिति को कृतकृत्यता को ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे एक नियम है याद जो व्यक्ति सर्वथा सर्वदा सभी कालों में सभी स्थितियों में सत्य को ग्रहण करने असत्य को छोड़ने में उद्यत रहता है वही व्यक्ति जीवन को अंतिम रूप में सफल बना सकता है ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है सभी बंधनों से छूट मोक्ष को प्राप्त कर सकता जब तक ये सीमा बनी रहती है व्यक्ति जिसको समझता है यहाँ अधिक हानि नहीं होगी मुझे मान लेना चाहिए कभी कभी देखता है यहाँ मेरा बहुत अपमान होगा यदि मैं इस दोष को मानता हूं तो वहां उसको स्वीकार नहीं करता आत्मनिरीक्षण से आपको ज्ञान होता रहेगा हो सकता है ये स्थिति कैसे आती है हमारे में अब और दूसरी बात दूसरे अंश को देखिए आप आप शब्दों से अनुमान प्रमाण से ये मानते हैं कि सारे पदार्थों को बनाने वाला उनका स्वामी ईश्वर है ऐसा शब्द प्रमाण से अनुमान प्रमाण से स्वीकार करते हैं परंतु आप दैनिक जीवन में ऐसा प्रयोग करते हो ऐसा नहीं मिलेगा कभी कर लिया ये अलग बात अपना अनुभव बताइए क्या है आपका बोलो आप अपना अनुभव बताओ क्या अनुभव आपका क्या दिन भर मन वाणी शरीर सब प्रकार से क्या ईश्वर के सारे पदार्थ हैं और हम जीवात्मा इनके स्वामी नहीं है गौण स्वामी है इनके प्रयोग के अधिकारी है ईश्वर के क्या ऐसा मान के दैनिक जीवन में आप प्रयोग करते हैं अपना अनुभव बताओ हाँ जी बोलो नहीं करते तो वही बात आई कि सत्य के ग्रहण करने असत्य के छोड़ने में आप उद्यत नहीं है तत्पर नहीं है आपको स्वीकार नहीं है यह अवस्था अथवा आप सिद्धांत रूप में मानते जानते हैं इसके लिए जो तप त्याग करना पड़ता है वो वो आलस्य प्रमाद के कारण आप नहीं करते इतना परिश्रम इतना त्याग इतनी सहन शक्ति आप करने के लिए तैयार नहीं है ये कारण है फिर वही बात देखेंगे आप ये तमोगुण रजोगुण हमको दबाते हैं जैसे हम की चपेट में आते हैं हम उस स्थिति को नहीं जान पाते हम आलस्य प्रमाद गुण वाले नहीं है हम आलस्य प्रमाद हमको अपना गुण दिखाई देता है ये काम क्रोध लो मोह अहंकार अपने गुण दिखाई देते हैं जैसे हमारे स्वाभाविक गुण वास्तव में ऐसा नहीं है एक स्थिति कल जो सुनी आपने कि हमारे विचार विद्युत की भांति चलते रहते जिसको हम क्षिप्त अवस्था बोलते हैं फिर कभी ध्यान देते हैं तो विक्षिप्त अवस्था में आ जाते हैं एकाग्रता की स्थिति हम बनाते हैं वो डिग जाती है हम बनाते हैं वो फिर डिग जाती एकाग्रता की स्थिति फिर हम आगे बढ़ेंगे तो अपर वैराग्य की स्थिति को प्राप्त कर एक विषय पर जितनी देर तक चाहे एकाग्र कर सकते हैं परमाणु परम तो अश्य वशी कार है ऐसा कर सकते ये वैराग्य के पश्चात आती है स्थिति बिना वैराग्य के नहीं आती अपर वैराग्य होने पर ही यह स्थिति आती है संप्रज्ञा समाधि की नहीं तो नहीं आएगी अब आपको आप सुना सुनने को मिला था कि क्या हम एकाग्रता के आगे चल के ऐसी स्थिति बना सकते हैं अब मैं कुछ भी नहीं विचार करूंगा समस्त विषयों से हटा दे मन को नहीं करना कोई भी विचार नहीं करना कभी बैठ करके ध्यान दें और बड़ी गंभीरता से सोचें तो ये देखें कि ये विचार कहां से आते हैं कौन उठाता है पर अपने पर थोड़ा सा अधिकार रखें अपने पर अधिकार का मतलब अपनी इच्छा को पकड़े रखें अपने प्रयत्न को भी पकड़े रखें फिर पता चलेगा कि विचार कहां से आते मानसिक जो प्रयत्न है हमारा बहुत सूक्ष्म है इतना सूक्ष्म है हम सतत मानसिक प्रयत्न करते हैं पर हमको भी पता नहीं चलता ये मानसिक प्रयत्न हो कैसे गया जैसे मैं इस हाथ को यहां से उठाऊ देखो ऐसे मैंने कब यत्न किया मानसिक जैसे हाथ उठ गया मुझे पता नहीं चलेगा क्या समझ में आया अब बिना प्रयत्न के हाथ उठ नहीं सकता या उठ जाएगा इच्छा और प्रयत्न के बिना हाथ उठ नहीं सकता या उठ जाएगा और मैंने उठा दिया मुझे ये पता नहीं मैंने कब कब इच्छा की कब प्रयत्न किया कोई पता नहीं चला मन में जो बुरे विचार आते हैं वो बुरे विचार इच्छा के बिना नहीं उठते प्रयत्न के बिना बुरे विचार नहीं उठते और व्यक्ति बुरे विचार उठ गए और उन विचारों ने हमको प्रभावित कर दिया फिर भले ही वो ध्यान दे मन में बुरे विचार आ गए क्या समझ में आया <laughs> बुरे विचार हमने इच्छा की हमने प्रयत्न किया और बुरे विचार उठ गए उठ करके उन विचारों ने हमको प्रभावित किया जैसे चोरी करने के हों और उस समय हमको पता चला कि चोरी करने के विचार उठ गए जब हो गया इतना कार्य जब पता चला क्या समझ में आया बताइए बुरे विचारों से प्रभावित होने के बाद पता चला पीछे पता चला कि बुरे विचार उठ गए हैं और ये बुरे विचार मेरे मुझे प्रभावित प्रभावित मुझे प्रभावित कर रहे हैं अबे अब वो जो आरंभ हुआ था जहां से इच्छा हुई थी और वो प्रयत्न हुआ था उसको कोई पता नहीं यदि अपनी इच्छा को अपने प्रयत्न को रोके रखता तो बुरे विचार उठ के हमको प्रभावित नहीं कर सकते थे नहीं तो करेंगे एक और, और दृष्टांत देता हूं आपने सुना होगा कि सम्मान की इच्छा लोकेशना ईश्वर प्राप्ति में बाधक है पुत्र की इच्छा पुत्रेशना ईश्वर प्राप्ति में बाधक है वित्तेषणा धन और भोग दोनों मिला के वित्तेषणा ये ईश्वर प्राप्ति में बाधक है तो आप देखेंगे कि इतना जानते हुए वो व्यक्ति मन में इच्छा करेगा पहले कि मेरा सम्मान कुछ होना चाहिए फिर वो प्रयत्न करेगा वो और प्रयत्न के पश्चात उसको वो प्रभावित करेगा कि भाई हम्म, किसी को प्रेरणा दो और किसी को थोड़ा बहुत कहो कैसे कहे कौन सी भी दी है जिसे वो बुरा प्रभाव भी न पड़े है जी तो वो कहेगा देखो भाई आज ये इतने विद्वान आए हैं कम से कम माला वाला से तो इनका स्वागत करना ही चाहिए दूसरे को कह देगा <laughs> या नहीं कहेगा है जी अच्छा इच्छा तो उसकी अपनी है मैं भी आ जाऊंगा इनमें क्या समझ में आया बताओ नहीं आया समझ वो सीधी बात नहीं कहेगा कि भाई मेरा सम्मान करो इनका भी करो ऐसा तो नहीं कहेगा डर लगता उसको पर इस रूप में कहेगा वो अब इसमें इच्छा भी हो गई और प्रयत्न भी हो गया और वाणी से कहा भाई इन विद्वानों का माला आदि डाल के सम्मान करना चाहिए यहाँ आ गया अब वहां पर उसको ये पता नहीं चला मैंने पहले इच्छा की है और फिर प्रयत्न किया है फिर वाणी में आया है इतनी बातें हो चुकी उसको प्रभावित कर दिया अब प्रभावित करने के पश्चात वो कहता है ये सम्मान की इच्छा की मैंने मैंने कह भी दिया कि ऐसे करो ये तो अपने लिए भी कह दिया मैंने तो ये तो उसको प्रभावित कर दिया है ये तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी ऐसे तो अब देखता है वो ये हो गई घटना ये हो गई फिर कहता है कई बार उसको बुरा लगे तो ये मैंने अच्छा काम नहीं किया <laughs> क्या कहता है ये मैंने अच्छा काम नहीं किया नया समझ में ये आपके सारे मनोविज्ञान आत्मविज्ञान की चर्चाएं चल रही है मनुष्य मात्र में ये होता है एक स्थिति ऊंचे सर पर मन को मत रोको एक बात इंद्रियों को भी न रोकना है जी शरीर को भी नहीं रोकना और क्या रोकना अपने को रोक दो अब क्या समझ में आया शरीर को न आत्मा को आत्मा को रोक दो अच्छा आत्मा को रोक देने पर सारे रुक जाएंगे आपको ये समय उपलब्ध है ऐसी स्थिति उपलब्ध है साधन प्राप्त है और ये पढ़ाने वाले सिखाने वाले भी उपलब्ध हैं और यदि आप इस रूप में जैसे मैंने आपके सामने रखा ऐसे नहीं समझते ऐसे नहीं जानते ऐसे प्रयास नहीं करते तो यद्यपि संसार के लोगों से दुनिया के जवानों से युवा पीढ़ी से इनसे आप ऊंचे रहेंगे ये ठीक है आप विद्या भी पढ़ा देंगे ये भी है गुरुकुल भी चला सकते हैं अच्छे रहेंगे ये तो ठीक हो जाएगा और संसार के लोगों से बहुत अच्छे होंगे ये तो हो जाएगा पर अंतिम स्थिति प्राप्त कर लें आप ईश्वर साक्षात्कार की ये नहीं हो सकेगा इतने परिश्रम से जो आजकल करते हैं आप वो नहीं हो सकेगा सामान्य रूप से जो विद्वानों का स्तर होता है धार्मिक लोगों का स्तर होता है समाज के लिए उपयोगी होंगे आप प्रचार करेंगे लेखक भी बनेंगे शास्त्रार्थ भी कर सकते हैं ये सब हो जाएगा और समाज के लिए राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है पर ऊंची स्थिति को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे देखना हो तो सैकड़ों नहीं हजारों पढ़े लिखे सन्यासी विद्वान उपदेशक अध्यापकों में वो आध्यात्मिकता आत्मा परमात्मा की नहीं मिलेगी आपको या मिलेगी नहीं मिलेगी और काम वो बहुत अच्छे करते हैं लेखक है व्याख्याकार है बहुत कुछ है पर जिस बात के लिए सारी चेष्टाएं सारे व्यवहार सब कुछ किया जा जाता है वो स्थिति वो लक्ष्य हमको नहीं मिलता तो हम अपने जीवन को सफल नहीं मान सकते इसलिए ऋषियों ने एक बात कही यह चेद अवेदित अथ सत्यम न चेद यह वेदित मैति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विजिंत धीरा प्रत्य असमात लोकात अमृता भवन ये प्रकरण केन उपनिषद का है एक जातक है बृहधारण्य या छंदोगे में है इनमें से किसी उसमें भी ये भाव यही बात मरने से पहले मरने से पहले यदि स्थिति प्राप्त कर ली तो ठीक है नहीं तो व्यर्थ है अब विराम हाँ जी क्या नाम है उसका यहाँ नहीं वो पीछे भाई माधनी युद्धगण धर्म प्रेमी सज्जनों मातृशक्ति आपने सुनने का प्रयास किया कि हमारी उन्नति कैसे हो सकती है उन्नति में बाधक कारण क्या क्या है यदि इन बाधकों को हटाया जाए और साधनों को उपार्जित किया जाए तो व्यक्ति को एक दूसरे मनुष्यों के साथ अर्थात गुरु और शिष्य और विद्यार्थी परस्पर दोनों या सभी समाज उसमें उसको ऐसा व्यवहार करना पड़ता है जिससे कि इन बाधकों को जाना जा सके बाधकों को हटाया जा सके साधनों को उपलब्ध किया जा सके उसके प्रयोग करके के देखे जाएं तब ये स्थिति आ सकती है कि हम आत्मा को स्वयं को वश में कर सकें आपने सुना था कि शरीर को वश में करने का प्रयास न करो मन को इंद्रियों को वश में करने का प्रयास न करो बुद्धि को मन वश में करने का प्रयास न करो और स्वयं को वश में करो इससे क्या समझ में आया आप मन बुद्धि शरीर इंद्रिय हम्म। आदि को वश में न करके अपने आप को वश में करो तो इसका क्या अभिप्राय समझे आप स्वयं के इच्छा और प्रयत्न को रोक दो हम्म। रोकने से फिर सारे जो मन आदि के जो व्यवहार है मन इंद्रिया बुद्धि आदि के ये भी अपने आप रुक जाएंगे जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं एक चेतन पदार्थ हूं अणु छोटा सा हूं अल्प शक्ति वाला हूं अल्पज्य हूं मेरा जो गुणकर्म स्वभाव है ये है उसको स्पष्ट समझ में आ गया उस स्थिति में वो देखता है कि शरीर को चलाना है बुद्धि को चलाना है मन को कहीं काम में लगाना और इंद्रियों को कहीं व्यवहार में लगाना वो सारी बातों को ये देखता है इन सब को चलाने वाला लगाने वाला मैं हूं अब उसने देखा कि मैं ये क्यों मानता हूं कि बुद्धि को बस में करो मन को बस में करो इंद्रियों को बस में करो शरीर को बस में करो मैं ये क्यों नहीं मानता कि मैं स्वयं को बस में करूं स्थिति इसकी क्या रहती है कि जीव आत्मा बुद्धि को चलाता रहता है मन को चलाता रहता है इंद्रियों को चलाता रहता है और इस स्थिति में भी वो ये नहीं देख पाता कि इनको मैं चला रहा हूं और अशुभ कार्यों में चला करके फिर देखता हूं कि मेरे मन में बुरे विचार आ गए जब वो जानने की इच्छा करता है कि मैं ऐसा समझू कि मैं चलाता हूं मैं चलाता हूं इसको समझने का वो जो प्रयास करता है तो उसको देखता है स्वयं विचार उठ करके किसी अन्य विषय में लग गए जैसे वो प्रयास करता था कि मैं कैसे विचारों को उठाता हूं देखूं तो मैं कब उठाता हूं कैसे उठाता हूं इतने में ही विचार उठ करके कहीं जाके जैसे स्वयं जाके लग गए फिर वो करता है कि ये कैसे लग गए ये कैसे आ गए ये विचार देखो या फिर वो तमाशा देख आप ऐसा कोई प्रयोग करते हैं या नहीं करते होता है या नहीं होता है, होता है। अब आप ये चाहें कि हम ऐसी स्थिति बनाएंगे जिससे बलात् कोई भी विचार कोई भी तरंग कोई भी वृत्ति नहीं उठे ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं तो क्या करें पहले ये करो कि समस्त विचारों से रोको स्वयं को वहीं पर स्वयं को रोको एक स्थिति एक अथवा आप यूं करके चलेंगे बुद्धि को नहीं जाने दूंगा मन को नहीं जाने दूंगा इंद्रिय को नहीं जाने कोई बात नहीं ऐसा भी प्रयोग ये प्रयोग थोड़ा सा मोटा प्रयोग है प्रारंभ तो व्यक्ति यहीं से करता है कि शरीर को रोको फिर करता पे तो इंद्रियों को रोको आंख से आगे देखो ही नहीं देखोगे तो विषय रोकेगा नहीं नया व्यक्ति विषय को रोक नहीं पाएगा या रोक पाएगा आंखें से देखते हुए सुंदर रूप या कुरूप वो उसको जब देखेगा तो उसका इतना अधिकार नहीं है कि आंख खुली और उस रूप को ग्रहण न करे आप ऐसा प्रयोग करके देख सकते हैं या नहीं ऐसा है ये पर्याप्त परिश्रम साध्य है बहुत कालांतर में होता है कि आंखें खुली हो रूप सामने हो बहुत सुंदर हो और वो उसको अंदर ग्रहण न करे खुली आंखों से आपका प्रयोग कितना हुआ है खुली आंखों से अधिकार कर लोगे जो कर सकते हो थोड़ा सा हाथ उठा के दिखाओ तो कोई भी नहीं कर सकता हम तो, तो आपने कितना परिश्रम किया हुँ? हम्म? ये भिन्न भिन्न स्तर हैं एक तरह ऐसा है खुली आंखों से वो व्यक्ति जो है उस रूप का ग्रहण नहीं करता अंदर से उसने मन को पकड़ लिया अथवा वहां से चलो अपनी इच्छा को प्रयत्न को रोक दिया रोक दिया तो मन को प्रेरणा नहीं देगा मन को नहीं देगा तो आंख को प्रेरणा नहीं मिलेगी आंख को प्रेरणा नहीं देगा तो रूप से कर होकर के रूप का ग्रहण नहीं होगा प्रक्रिया समझ में आई या नहीं आई रीति समझ में आ रही है नहीं आ रही हो हाँ हूं तो करो कुछ <laughs> आपका ये पता ही नहीं चलेगा हाँ अथवा ना बैठे रहो जैसे कि कई नगरों में कई गांवों में कई विद्यालयों में विद्यार्थियों से पूछो वो चुप बैठे हैं और पूछने वाला पूछा बताओ आया समझ में वो चुप है अब बताओ इसका क्या उपाय विद्या कैसे पढ़ोगे आप न हाँ है न ना है कुछ नहीं हमारी इंद्रियों से जो विषयों का ग्रहण होता है उसकी प्रक्रिया उसकी पद्धति व्यक्ति को आनी चाहिए नहीं तो कैसे प्रयोग करेगा उसको रोकेगा कैसे ये तो है नहीं जैसे कह दिया इन लोगों ने भाई देखो हम्म, मन को खुला छोड़ दो मन को खुला छोड़ दो और ये दौड़ धूप करते करते करते करते अपने आप रुक जाएगा या तो ये अथवा ज्ञान पूर्वक देखो बुद्धि पूर्वक देखो कि हम चेतन पदार्थ हैं आत्मा ये बुद्धि मन ये इंद्रिया जड़ पदार्थ हैं इनको मैं चलाता हूँ और जो प्रयोग काल में मैं देखूंगा कि जो वस्तु ग्रहण करनी जाननी है वहां तो मैं आंख इंद्रिय से काम लूंगा और नहीं तो मैं उसको रोक दूंगा अब रोकने का उसने ढंग देखा कि स्वयं जीवात्मा इच्छा करता है फिर प्रयत्न करता है फिर मन को प्रेरणा देता है मन इंद्रिय को देता है इंद्रिय जाके विषय से संबद्ध होती है उससे वो विषय का ग्रहण करता है नेत्र में आएगा पहले विष्णु फिर वो मन आदि बुद्धि में जाएगा और उसमें जाके फिर जीवात्मा उसको देखेगा फिर वो कहेगा देखो कितना सुंदर रूप है ढंग तो ये है या नहीं है आगे समझ में नहीं आया स्थिति ये है तो वो व्यक्ति खुली आंखों से उस रूप को नहीं रोक पाता आप देखेंगे खुली आंखों से जब वो देखता है तो उसने क्या किया अंदर से अपनी इच्छा को रोका मन को रोका और उसमें घटना क्या घटती है पहले पहले जो नया व्यक्ति अभी बहुत अभ्यासी नहीं है वो मन से रोकने लगा और ऐसे गुब्बारे की तरह विचारधारा चली <laughs> वो देखने की बात उसमें फिर रोका फिर चली फिर रोका वो इतनी बार उछल कूद की उसने कहा ये तो रुकने वाला है नहीं वैसे कहने की बातें मन रुक जाता है और <laughs> इसको जाने दो खुला छो अब चूल्हा छोड़ने पर इधर गया उधर देखा उधर क्योंकि हाँ अब आराम है, अब ठीक है अब वो दुख नहीं दे रहा जो ऐसे कूद रहा था ऐसे कूद रहा था समझ में आता नहीं आ रहा आ रहा समझ में जब आप समझेंगे कुछ प्रयोग करेंगे तभी तो कुछ सफलता मिलेगी ये आपने सुना होगा व्यवहार काल में जाके विद्या पूरी होती है आगम काल स्वाध्याय काल प्रवचन काल और फिर व्यवहार काल में विद्या का अंतिम रूप सामने आता विशुद्ध रूप में विद्या सामने आती नहीं तो नहीं आती तो दूसरी स्थिति दूसरी स्थिति उन तरंगों को रोकने की देखिए हमने क्या किया हमने अपना शरीर दूसरों का शरीर संसार के प्राणी मात्र का शरीर वृक्ष पहाड़ और फिर भूमि सूर्य चंद्रमा को प्रलय की अवस्था पहुंचा दिया तो क्या हुआ अब उसके सामने विषय ही नहीं है अब विषय ही नहीं तो वृत्तियां भी नहीं है अब क्या समझ में आया सभी पदार्थों को प्रलय में पहुंचा देने पर अच्छा आपको पहुंचाना आता है या नहीं आता ऐसे सुन लिया या पहुंचाना आता है या नहीं आता ये बताओ किसको आता है जो ठीक प्रलय जैसी स्थिति बना लेता हो भौतिक स्तर पर अनुमान प्रमाण से अथवा शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से तो नहीं बनेगा सब जानते पर अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण से जो की तो प्रलय की अवस्था बनेगी जो प्रलय सृष्टि से पूर्व था आने वाला जो प्रलय है अब उसकी भी स्थिति ज्यो की तो बन जाएगी जैसा प्रलय होता है अब दोनों स्थितियों को प्रलयत बनाने की योग्यता व्यक्ति में रहनी चाहिए सांख्य पढ़ लिया आपने पढ़ा होगा ये भी सब है आप देखेंगे ये प्रक्रिया जो होती है मृत्यु से चलती है ये ये शरीर नाशवान है या नहीं है या नहीं इसका निर्णय करता है व्यक्ति अच्छे प्रकार से निर्णय इसका वो कर लेता है फिर मनुष्य मात्र प्राणी मात्र के शरीर का निर्णय करता है सभी जो है ये नाशवान है एक स्थिति और होती है कि एक मान्यता है लोगों की कि ये सृष्टि सदा से अनादिकाल से ज्यो की तो चली आई अर्थात कभी इसकी उत्पत्ति नहीं होती सदा से सूर्य चंद्रमा बने बनाए चले आ रहे हैं कभी कोई खंड टूट गया कभी नहीं टूटा कोई आंशिक रूप में सर्वथा इनका प्रलय होता हो या इनकी उत्पत्ति ही न होती हो ऐसा कोई काल नहीं है ऐसी मान्यता उस मान्यता को खंडित करने के लिए व्यक्ति को शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण की अपेक्षा रहती तब वो इसको सिद्ध कर सकता है जैसे एक स्थिति आएगी आज हम विद्यमान शरीरधारी हैं छह अरब से अधिक लोग इस भूगोल में और हम ये मानते हैं कि ये पीढ़ी मर गई अगली पीढ़ी आएगी अगली आएगी पीढ़ी के पीछे दूसरी तीसरी अनंत काल तक ये चलता रहेगा एक मान्यता तो ये है समझ भाई और अनादिकाल से ये तारतम्य चला आ रहा है ये इस ओर से आ गई ये दिमाग है क्या जब ये दिमाग होगा तो आप सूर्य चंद्रमा भूमि को और मनुष्यों के सबको पर्वय जैसी अवस्था नहीं बना पाएंगे क्या समझ में क्योंकि आपकी मान्यता नहीं बनी और हो सकता है इसकी स्थिति इस स्थिति को स्वीकार करने पर पर ईश्वर को बनाने वाला इसका संचालक और इसका प्रलय करने वाला मानने की अपेक्षा भी नहीं रहे आया समझ में नहीं आया हाँ आया ना हाँ जी बोलो क्या आया समझ में ऐसे थोड़ा ये सुनते रहो व्यवहार भानु मुझे जैसे उसको पंडित का लक्षण और दूसरा <laughs> दूसरा किसका लक्षण किया है हैं हाँ। बात इतनी बताई कहां से पूछनी कहां से उत्तर देना उसको पता ही नहीं कहां से इतना ढीला स्वभाव क्यों रखते हो आप तो जब इस सृष्टि को अनादि मान लेंगे अनादिकाल से है ये अनादि है उत्पन्न नहीं हुई और प्रलय भी इसका नहीं होगा उस समय ईश्वर के मानना न मानना इतना अपेक्षित नहीं क्या इसको बनाने वाले का आवश्यकता ही नहीं है और फिर शरीर भी वो आएगा कि शरीरों को कौन बनाता उसमें आएगा कि प्रकृति बना देती है जब स्वयं बन जाते ऐसे अब इसने ये सिद्ध किया करना ही पड़ेगा कि ये सृष्टि पहले मनुष्यों को लेता है पशु आदि ये सदा से अनादि रूप से परंपरा चली नहीं आ रही इसका आरंभ हुआ है मनुष्य शरीर आदि नहीं थे आने वाले समय में कोई भी शरीरधारी नहीं रहेगा वो ये सिद्ध करता है या तो शब्द प्रमाण से या अनुमान प्रमाण वो सिद्ध करता है तो फिर फिर वो पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश सूर्य चंद्रमा की ओर आगे बढ़ता है कि ये सदा से जो तो हैं या इनकी उत्पत्ति होती है सूर्य चंद्रमा की तो इसको सिद्ध करता है कि सदा से जो तो नहीं है इनकी उत्पत्ति हुई है और आने वाला समय जो है ये जो तो रहेंगे नहीं अच्छा फिर वो देखता है कि ये विनाश को प्राप्त हो जाते हैं मैंने मान लिया उसने कहा तो एक विचार आता है मन में कि नाश होते होने का अर्थ एक तो यह है कि अभाव का हो जाना और नाश का दूसरा अर्थ है कि रूपांतर हो जाना ढेले को तोड़ के फेंको आकाश में वो रूपांतर हो गया दिखाई नहीं देता उसके परमाणु कण है वो ज्यो कहते त्यों है तो उसके मन में आया अनुमान से लगाओ या शब्द प्रमाण कि जो वस्तु थी चीज थी ढेला जैसी पत्थर का टुकड़ा उसको तोड़ तोड़ के विनाश को प्राप्त कर दिया उसका अभाव नहीं हो सकता बुद्धि से ये सोचता या तो शब्द प्रमाण से काम लेता है या बुद्धि से ये कहता है कि जो थी वस्तु होनेपन में होनेपन को न होनेपन में नहीं परिवर्तित किया जा सकता वो ये अनुभव करना तो फिर क्या करें क्या माना जाए उन्होंने कहा ये भूमि आदि टूट फूट के रूपांतर होती बनना बिगड़ना बनना चलता रहता है ये देखा फिर वो देखता है यदि उसको सांख्य की प्रक्रिया समझ नहीं पढ़ाई भी नहीं गई तो वो क्या करता है कि कुछ भी करो टूटते टूटते टूटते टूटते टूटते एक चीज ऐसी स्थिति में पहुंचेगी जो आगे टूट ही नहीं एक स्थिति तो माननी पड़ेगी इसने सिद्ध कर दिया और यदि सांख्य से सहायता लेनी हो सांख्य दर्शनकार की बात से तो इसको फिर सांख्य की दृष्टि से चलेगा वो ये सारे शरीर हमारे पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश में लीन हो जाते हैं पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश तन्मात्राओं में लीन हो जाते हैं तन्मात्रा ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया मन ये अहंकार में लीन हो जाते हैं अहंकार मह तत्व में लीन हो जाता है मह तत्व सत्वर में लीन हो जाता है और सत्व तम किसी में लीन नहीं होते अंतिम रूप हो गया सांख्य की सहायता से वो यहां पहुंच गया समझ में आया नहीं आया प्रलयवत अवस्था कैसे बनाई जाती है ये ये पद्धति रीति ये इसका जानने का विज्ञान है तो उस समय उसने प्रलयवत अवस्था बना डाली प्रलयवत अवस्था जब बनाई उसने तो ना तो भोगता रहा शरीर धारी और ना भोगे चीजें रही गाजर मूली जो हम खाते हैं वो भी नहीं रही और खाने वाले हम भी नहीं रहे अब क्या समझ में आया हाँ नाम बताओ क्या समझ में आया इसके दो तो भाग बनाओ जब जीवात्मा ने ये समझा सीखा कि भोक्ता जीवात्मा चेतन है और इस शरीर से भोग करता है ऐसा दोनों को अलग अलग जान के वो प्रयोग करता है उस समय तो ये देखेगा वो कि जीवात्मा जो शरीर से भोग रहा था इसके माध्यम से गाजर मूली को खा रहा था ये वो शरीर ही नहीं रहा तो उसका सुख दुख आदि जो भोग कैसे कर पाएगा वो और खाए पिएगा किसको गाजर मूली ही नहीं रही अब क्या समझ में आया नहीं आया समझ वो पदार्थ नहीं रहा जो हम उसका भोग करते खा, खाते और जिसके माध्यम से जीवात्मा उसको खाता पीता है वो साधन नहीं रहे जीव की हम जीवात्मा को नित्य मान के चल रहे नित्य सिद्ध हो चुका है और जब जीवात्मा को नहीं माना नहीं माना गया था कल्पना करो अभी वो जान नहीं पाया मैं जीवात्मा हूं <laughs> तो क्या मानेगा वो कि अपना भी प्रलय कर देगा क्या समझे आप नहीं आया समझ में जब इस पिंड मात्र को ही सब कुछ मानेगा ना जिस समय जीवात्मा को तब इस पिंड को ही समाप्त कर देगा वो पिंड ही नहीं रहा ये ये पिंड नहीं रहा तो जिसको खाना पीना था वो पिंड भी नहीं रहा तो दोनों समाप्त है हाँ जी ये एक दूसरी स्थिति है आप ऐसी स्थिति को लेकर चलिए जीवात्मा शरीर आदि इंद्रियों से अलग पदार्थ है नित्य है शब्द प्रमाण उन्मान प्रमाण उस समय उसने क्या किया सबको परलय जैसी स्थिति में पहुंचाया उस समय न तो भोग का साधन शरीर इंद्रिया है हमारे पास में और न ही अगला पदार्थ और भोग्य पदार्थ उसमें दोनों का अभाव दिखाई देगा तो प्रवृत्ति कैसे होगी भोगों की समझ में आया नहीं आया बोलो या तो वो पदार्थ मात्र का अभाव दिमाग में बनाओ प्रलय जैसी स्थिति तो फिर आप की इंद्रियां विषय को ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे और यदि ये आ जाता है प्रलय अवस्था बनाना व्यक्ति को तो इसमें यद्यपि बहुत लंबे अभ्यास के आधार पर व्यक्ति इसको बना पाता है और बनाना यदि आ गया मान के चलिए प्रलवतावस्था वो कर देता है फिर उत्पत्ति भी कर लेता है प्रलय भी कर लेता है उत्पत्ति भी कर लेता है प्रलय भी करता रहता है तो वो जब ऐसी स्थिति में ले आता है तो तत्काल वृत्ति सारी बंद कोई भी प्रवृत्ति नहीं रहेगी दौड़ लगाने की साधक जी आ रहा है समझ में या नहीं दूर बैठे बैठे आराम से कुछ <laughs> ये जो प्रश्न उठाया जाता है कई बार कि ये कितने दर्शनों को पढ़ लेते हैं उपनिषदों को पढ़ते हैं पढ़ा भी देते हैं वेद की व्याख्या भी कर लेते हैं लेखक भी बन जाते हैं इनकी समाधि नहीं लगती आपको भी मनमाता हो गया नहीं आता जी तो इनकी समाधि इसलिए नहीं लगती इस ज्ञान विज्ञान को वो समझ के व्यवहार में नहीं उतारते मूल में यही यदि ये अवस्था जो मैंने बतलाई संपादित करनी आ गई पर याद रखना दो स्थितियां भिन्न भिन्न है शब्दार्थ संबंध से आपको वस्तु को जान तो लिया पर शत प्रतिशत आपके दिमाग में बात नहीं बैठी विनाश पर और वो शत प्रतिशत नहीं बैठी और नहीं अनुमान से आप ऐसा चित्र बना पाते पूरी सृष्टि का अब कल्पना हम करें एक उदाहरण की तो उससे और स्पष्ट होगा एक व्यक्ति था हाँ मान लो वृद्ध व्यक्ति मर गया अभी अभी अब पहले घंटे एक घंटा पहले बातचीत करता था दूध पी रहा था ये था वो था सारी बातें थी अब मर गया मर गया तो कहने के क्या करें दाह संस्कार करो उसकी सारी चेता बना करके और जला दिया धर धर धर धर थोड़ी देर में राख फिर वर्षा आ गई पानी से बह गई फिर उस आपने जाके देखा वो व्यक्ति कहां चला गया <laughs> वो उसका परलय हो गया उन्होंने देखा क्या मेरा भी ऐसा परलय होगा क्या ये उसको जस्ती नहीं कि ऐसा ही परलय होगा जैसा इसके हुआ यह जस्ती है ज्यो का तो नहीं आता दिमाग में आता हो तो बताओ यदि उसको एक शरीर का दृष्टांत है पूरा विश्व यदि शरीर की भांति प्रलय को प्राप्त होगा ही ऐसा था ही होगा ही और वह अवस्था सांख्य की दृष्टि से सोचो या अनुमान प्रमाण से तो वो स्थिति क्या होती होगी ऐसी होती होगी और उस उस स्थिति में ना तो भोगने के योग्य पदार्थ है ना भोगने का साधन है कुछ भी तो नहीं है तो नहीं है तो फिर प्रवृत्ति कहां पैदा हो किसकी और रुचि होगी कि इसको भोगो है ही नहीं भोगने के योग्य भोगने का साधन भी नहीं है अब इसके साथ साथ एक और बड़ा भारी गंभीर उपाय साधन है इसके साथ जुड़ा हुआ इनको अनित्य समझना पल्ल जैसी स्थिति तक पहुंचा देना इससे क्या हुआ सांख्य की भाषा में उसने देखा कि जड़ वर्ग जो है वो यहां से लेके वहां तक है जड़ वर्ग का पता चला कौन सा है सत्वर तमसाम साम्यावस्था प्रकृति आगे प्रकृति महान दो और आगे तीन आगे कितने हो गए तीन से आगे मिला लो कितने हुए सोलह तीन कितने हो गए और आगे क्या जोड़ोगे हाँ तो क्या कितने जोड़ दिए फिर पांच कितने हो गए ये 24 के 24 जड़